वचन कर्म मन मोर गति भजन करो नेह काम के हृदय कमल महो करो सदा विश्राम सुनहु सखा कह कृपा निधाना जय जय होय सुसंदन आना सौरज धीरज तेरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम पर घोरे क्षमा कृपा समता रज जोरे ईस भजन सारथी सुजाना विरत चर्म संतोष कृपाना दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा पर विज्ञान कठिन को दंडा अमल चल मन त्रोण समान सम जम नियम सिली मुख नान कवच भेद वे प्रगुर पूजा हे सम विजय उपाय न दूजा सखा धर्म में असरत जाके जीत न कह न कतहूँ रपता के महाअजय संसार रिपू जीत सके सो वीर जाके असरत हो दृढ़ सुनहु सखा मत